दिया जगत के अस्तित्व में एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है जीवन को थोड़ा रहे तो जीवन भी तीन इकाइयों में खंडित हो जाता अस्तित्व को खोलने रहे तो अस्तित्व भी तीन इकाइयों में खंडित हो जाता है तीनों के स्मरण तीन की संख्या की जांच कर सकते हैं तब तो खोसा जा सकता था लेकिन अब वैज्ञानिक भी तीन के रस को स्वीकार करते Thank you. قالت سمعت أنه في संबंधित रहे मनुष्य निसर्ग से संबंधित हो जाए नेचर से संबंध जोड़ ले तो सुंदरम की घटना ब्यूटीफुल की घटना घटती है और शिवम मनुष्य की सबसे बाहर की परिधि है शिवम का मतलब है दूसरे मनुष्यों से संबंध शिवम है समाज से संबंध सुंदरम है प्रकृति से संबंध सत्यम है स्वयं से संबंध हमारे बाहर प्रकृति का एक जगत है हमारे बाहर मनुष्यों का एक जगत है और हम हैं तो मनुष्य के बिंदु पर अगर हम तीन वर्तन बनाए तीन कंसेंट्रिक सर्किल खींचे तो पहला निकटतम जो सर्किल है वो सत्यम का है दूसरा जो सर्किल है वो सुंदरम का है प्रकृति से संबंधित होने का जो जगत है और तीसरा जो सर्किल है वो शिवम का है मनुष्य का मनुष्य से संबंधित होने का जो वर्तुल है शिवम सबसे ऊपरी व्यवस्था है इसलिए समाज की समाज की दृष्टि में शिवम सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए समाज नीति से ज्यादा धर्म के संबंध में विचार नहीं करती है समाज के लिए बात समाप्त हो जाती है अगर आप दूसरों के लिए अच्छे हैं तो समाज की बात समाप्त हो जाती है समाज इससे ज्यादा आपसे मांग नहीं करती समाज प्रति दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा है तो हमारा काम पूरा हो गया इसलिए समाज सिर्फ नीति से चल सकती समाज को धर्म और दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है समाज का काम नीति पर पूरा हो जाता है एक व्यक्ति दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए की चिंता नहीं है कि व्यक्ति प्रगति के साथ भी अच्छा समाज को इसकी भी चिंता नहीं है कि व्यक्ति अपने साथ भी अच्छा समाज को इसकी चिंता नहीं है कि व्यक्ति अपने भीतर सत्य को उपलब्ध हो इसकी भी चिंता नहीं कि चांदारों से उसके सौंदर्य के संबंध बने उसकी सिर्फ एक चिंता है कि मनुष्यों के साथ उसके संबंध सुख हो गुड हो इसलिए समाज से ऊपर सारा जोर डालता है और जो लोग अपने जीवन में शिव को पूरा कर लेते हैं समाज उनको महात्मा साधु का आदर देता है लेकिन अस्तित्व की गहराइयों में शिवम सबसे कम गहरी चीज है सबसे उथली चीज है इसलिए साधु अक्सर गहरे व्यक्ति नहीं होते साधुओं से तो कई कवि और चित्रकार भी ज्यादा गहरा होता है साधुओं से तो वो भी ज्यादा गहरा होता है जिसमें जानकारों से अपने कोई संबंध जोड़ लिया असल में जो जानकारों से अपने संबंध जोड़ पाता है वो मनुष्य से तो जोड़ ही लेता है उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है लेकिन जो मनुष्य से संबंध जोड़ता है जरूरी नहीं है वो जानकारों से भी जोड़ता है सुंदर हुई जिसकी प्रति गहरियों को सेवन को तो उपलब्ध हो जाता है जिसने ब्यूटीफुल को खोज लिया है वो गुडनेस को तो उपलब्ध हो जाता है क्योंकि गुडनेस अपने आप में बहुत बड़ी से बड़ी सौंदर्य की अनुभूति है जिसने सुंदर को खोज लिया वो इतनी कुरूपता भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बुरा हो सके बुरा होना एक कुरूपता है अकलीनेस है लेकिन जिसने शिव को साधा है वो असुंदर हो सकता है जिसने शिव को साधा है उसे सौंदर्य में भी चुनाव करना पड़ता है श्री दास टंडन ने एक सुझाव रखा था कि खजुराहो कोनार को पूरी के मंदिर मिट्टी में दबा दिए जाने चाहिए क्योंकि उन मंदिरों पर जो मूर्ति है वो शुभ नहीं है शिव नहीं है सुंदर होगी लेकिन गुडनेस से उनका संबंध नहीं मालूम पड़ता है खजरा हो कि दीवार पर जो महत्वपूर्ण के चित्र हैं जो नवी सुंदर स्त्रियों की प्रतिमाएं हैं पुरुषोत्तम टंडन का ख्याल था इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए और गांधी जी भी उनके इस ख्याल से राजी हो गए अगर रविन्द्रनाथ ने बाधा न डाली होती तो हिंदुस्तान की सबसे कीमती संपत्ति मिट्टी में दब सकती थी रविन्द्रनाथ तो हैरान हो गए ये बात सुन के भी कोई ऐसा सुझाव है लेकिन टंडन सिद्ध के आदमी थे क्या ठीक है ये पर्याप्त है ऐसा सौंदर्य उनके बर्दाश्त के बाहर है जिससे किसी के मन में अशुभ पैदा हो सके वे ऐसी कुरुता को भी पसंद कर लेंगे जो शुभ की दिशा में ले जाती हो इसलिए जिन देशों में साधुओं का बहुत प्रभाव उन देशों में सौंदर्य की प्रतिष्ठा कम हो जाती है हमारा ही ऐसा एक आबादा मुल्क है इस मुल्क में सौंदर्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं सौंदर्य अपमानित सौंदर्य निंदित बल्कि काम के प्रलय हिंदुस्तान से जर्मनी वापस लौटा तो उसने वहां जाके लिखा कि मैं हिंदुस्तान से ये समझ के रहा हूँ कि गुरु होना भी एक आध्यात्मिक योग्यता है और बीमार होना भी आध्यात्मिक गुण है और गंदा होना भी साधना की अनिवार्य शर्त है जैन साधु स्नान नहीं करेगा पसीने की जितनी बात आए उतनी गहरी साधना का सबूत मिलता है तो नहीं करेगा मुंह पास ले जाए तो आपको घबराहट छूटे तो समझना चाहिए दूसरी तरफ जो आदमी है वो साधु हिंदुस्तान ने शिव की बहुत प्रतिष्ठा की और इस प्रतिष्ठा ने सौंदर्य को घातक नुकसान पहुंचाया मेरी दृष्टि में गांधी शिव के अन्यतम प्रतीक है लेकिन शिव मनुष्य की पहली परी बहुत गहरी नहीं पहली सीढ़ी बहुत गहरी नहीं जब हम दूसरे व्यक्ति से संबंधित होने का ही केवल ख्याल रखते हैं और जब हम यही सोच के चलते हैं कि दूसरे से हमारे संबंध कैसे हों और ये कभी नहीं सोचते कि हम कैसे हैं और ये भी कभी नहीं सोच सोचते कि मनुष्यों के अतिरिक्त भी जगत का कोई अस्तित्व है पत्थर भी है नदियां भी हैं पहाड़ भी हैं जब इस विराट जीवन को हम मनुष्य के ही समाज में केंद्रित कर देते हैं तो जगत और जीवन बहुत संकीर्ण हो जाता है स्वभाव का जो सिर्फ शिव की ही साधना करेगा उसके पाखंडी हो जाने का खतरा है जरूरी नहीं है कि वो पाखंडी हो जाए लेकिन उसका खतरा है क्योंकि वो बहुत ऊपर से जीवन को पकड़ने की कोशिश में लगा है उसने जिंदगी को जड़ों से नहीं पकड़ा उसने जिंदगी को फूलों से पकड़ने की कोशिश की उसने जिंदगी की बाहरी परिधि को लीप में पोतने की कोशिश की वो चरित्र को ठीक करेगा वो पानी छान के पिएगा वो ये करना ठीक है या नहीं है ऐसा होना ठीक है या नहीं है वो ये सब सोचेगा लेकिन इस सारे सोच में वो जिएगा परिधि पर वो गहराई में नहीं जी सकेगा गांधी तो मेरे लिए पहले प्रतीक है जो शुभ के श्रेष्ठतम प्रतीक है अगर वो विकृत हो जाए तो हिटलर जैसा आदमी पैदा हो और अगर कोई सुकृत हो जाए तो गांधी जैसा आदमी पैदा होगा ये एक ही परिधि पर खड़े लोग ये जान के आपको तो हैरानी होगी कि हिटलर सिगरेट नहीं पीता है हिटलर मांस नहीं खाता हिटलर रात नियम से सोता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नियम से उठता है हिटलर अविवाहित रहा है हिटलर के जीवन में समझा जाए तो साधु के सब लक्षण पूरे हैं लेकिन हिटलर से ज्यादा असाधु आदमी पृथ्वी पर दूसरा पैदा नहीं हुआ ये थोड़ा सोचने जैसा है अगर हिटलर थोड़ी सिगरेट पी लेता और थोड़ी शराब पी लेता और थोड़ा मांस खा लेता तो मैं समझता हूँ दुनिया का इतना नुकसान ना होता जितना हुआ अगर वो किसी एक बार स्त्री से प्रेम कर लेता या पड़ोसी की पत्नी से लुक्षित थोड़ी बात कर लेता तो भी दुनिया का इतना नुकसान ना होता जितना हुआ वो आदमी सब तरफ से बंद हो गया सब तरफ से जो जबरदस्ती शुभ होने की कोशिश करेगा उसका अशुभ किसी और मार्ग से प्रकट होना शुरू हो जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर प्रकट होगा इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ऊपर से अहिंसा साथ लेते हैं उनकी आंखों उनकी नाकों उनके हाथों में सबसे अहिंसा की जगह हिंसा चल जाती है जो लोग ब्रह्मचर्य साध लेते हैं उन्हें चौबीस घंटे सेक्स उनका पीछा करने लगता है जो लोग किसी दिन उपवास किए हैं अगर आप में से किसी अभागे ने किसी दिन उपवास किया हो तो उसको पता हो कि दिन भर भोजन के अतिरिक्त और कोई ख्याल नहीं आता और रात के बाद भोजन के कोई सपना नहीं आता सुबह को कोई अगर आग्रह पूर्वक जबरदस्ती ठोक लेगा तो शुभ तो नहीं सदेगा फिर पाखंड होगा विकृतियों परवर्षण पैदा होते लेकिन अगर कोई शुभ को पूरे मिलन पूर्वक साध ले तो भी पाखंड तो पैदा नहीं होता चरित्र पैदा हो जाता है शुभ चरित्र पैदा हो जाता है लेकिन होता परिधि का बहुत गहरा नहीं होता दूसरी परिधि सौंदर्य की है आचरण शिव की परिधि है और सौंदर्य की हमारी जो अनुभूति है एस्थेटिक जो सेंस है हमारे भीतर सुंदर की जो भावदत्ता है सुंदर को ग्रहण करने की जो ग्राहकता सेंसिटिविटी है वो दूसरी परिधि है गांधी को मैं पहली परिधि का प्रतीक पुरुष मानता हूं सफल प्रतीक पुरुष हिटलर को मैं पहली परिधि का असफल प्रतीक पुरुष मानता हूं रविन्द्रनाथ को मैं दूसरी परिधि का सफल प्रतीक पुरुष मानता हूं उनके जीवन में सौंदर्य सब कुछ है सुनी है मैंने एक घटना कि गांधी रविन्द्रनाथ के घर मेहमान थे सांझ घूमने निकलते थे तो उन्होंने कहा कि आप भी चलेंगे रविन्द्रनाथ ने कहा कि रुकने में थोड़ा पाल संभाल गांधी को समझ के बाहर हो गए स्वाभाविक इस बुढ़ापे में बाल संवारने की बात बेहूदी मालूम पड़ सकती किसी भी साधु को पड़ेगी लेकिन कोई और होता तो गांधी तत्काल उससे कुछ कहे होते रविन्द्रनाथ से एकदम से कुछ कहना भी कठिन चुपचाप खड़े रह गए उनके कहने में भी विरोध तो था उनके चुप रहने में भी विरोध था रविन्द्रनाथ भीतर गए और पांच मिनट बीत गए नहीं लौटे दस मिनट बीत गए नहीं लौटे गांधी के बर्दाश्त से बाहर हो गया उन्होंने भीतर झांक के देखा देखा आदम तक आईने के सामने खड़े हैं इस बुढ़ापे में सब सफेद हो गए बालों को संभालते हैं और मंत्र मुक्त है ऐसे ही जैसे भूल गए हैं कि घूमने जाना है गांधी ने कहा क्या कर रहे हैं आप इस उम्र में और बालों को इतनी संभालने की फिक्र रविन्द्रनाथ मुड़े उनका चेहरा जिसने समाज उन्होंने कहा जब जवान था तो मैंने हमारे जग जाता था जब से बुरा हो गया हूं तब से बहुत समान हो रास्ते में दार्जिलिंग तो रविन्द्रनाथ ने कहा कि मैं अक्सर सोचता हूं कि किसी को अगर मैं गुरुप दिखाई पड़ू तो मैं उसको दुख दे रहा हूं और दुख देना हिंसा है और किसी को मैं सुंदर दिखाई पड़ू तो उसे मैं सुख दे रहा हूं सुख देना अहिंसा है शायद ही कभी तो किसी ने सोचा हो कि सौंदर्य में अहिंसा भी हो सकती रघुनाथ कह रहे हैं जब मैं किसी को सुंदर दिखाई पड़ता हूं तो उसे सुख दे रहा हूं और सुख देना अहिंसा है और जब मैं गुरु दिखाई पड़ता हूं तो मैं दुख दे रहा हूं और दुख देना हिंसा है तो रघुनाथ कह रहे हैं कि मेरी नैतिकता मुझसे कहती है कि मैं सुंदर दिखाई पड़ता हूं मरते अंतिम क्षण तक प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि मैं गुरु न पड़ जाऊं और ये हैरानी की बात है कि रविन्द्रनाथ जैसे जैसे बूढ़े होते गए वैसे वैसे सुंदर होते गए मरते वक्त बहुत कम लोग इतने सुंदर होते हैं जितने रविन्द्रनाथ थे और रविन्द्रनाथ को मरते वक्त देखकर कोई कह सकता था जैसे हिमालय के शिखर पर बर्फ आ जाए ऐसे उनके चेहरे पर वो जो बुढ़ापे की सफेदी और सफेद बाल आ गए थे उन्होंने जैसे श्वेत हिम से उन्हें ढक दिया वे जैसे गौन शंकर हो गए थे रविन्द्रनाथ के मुंह में सौंदर्य की बड़ी गहरी पकड़ है इतनी गहरी पकड़ है कि सुख को भी वे सुंदर का ही एक रूप समझते हैं असुख को असुंदर का एक रूप समझते हैं बुरा आदमी इसलिए बुरा नहीं है कि बुरा काम करता है बुरा आदमी इसलिए बुरा है कि बुरा आदमी कुरूप और बुरे आदमी का बुरा काम भी इसलिए बुरा है कि बुरे काम के परिणाम कुरूप है अग्नि में से विरोध है असाधुता का विरोध नहीं विरोध है कुरूपता का और अगर साधु भी कुरूपता पैदा कर रहा है जीवन में सर्वनाश का विरोध है सौंदर्य की जिनके जीवन में थोड़ी सी प्रती होगी वे मनुष्य के जगत के पार जो और बड़ा जगत है उसमें प्रवेश कर जाते हैं साधारणतः मनुष्य की दुनिया में ही जीते हैं सच तो यह है कि मनुष्य की दुनिया में भी पूरी तरह नहीं जीते हैं वहां भी अधूरे जीते हैं मनुष्य के पास वृक्ष भी है पत्थर भी है पहाड़ भी है चांदारे भी है आकाश भी है ये इतना विराट चारों तरफ फैला है इसका हमारा कोई संबंध नहीं अभी पीछे लंदन में एक सर्वे किया जा रहा था स्कूल के बच्चों का तो दस लाख बच्चों ने ये कहा कि उन्होंने गाय नहीं देखी है और सात लाख बच्चों ने कहा उन्होंने खेत नहीं देखा और जिन बच्चों ने गायों देखी जिन बच्चों ने खेत नहीं देखा ये एक अर्थ में जगत से बुरी तरह टूट गए इनका जगत से कोई संबंध न रहा इनका संबंध सिर्फ मानवीय जगत से है अब आज मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उस किताब के लेखक ने यह सुझाव दिया है कि चूंकि जमीन छोटी हो गई है और जमीन के रहने वाले लोग ज्यादा हो गए इसलिए अब उन्हें अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रहने का इंतजाम कर देना चाहिए और धीरे धीरे सारी मनुष्यता को जमीन के नीचे निवास करने के लिए राजी कर लेना चाहिए वो ठीक कह रहा है अगर मनुष्यता इसी तरह बढ़ती गई तो आदमी को जमीन के नीचे जाना पड़ेगा तब शायद हो सकता है सूरज से भी हमारा कोई संबंध न रहे चांदारों से भी हमारा कोई संबंध तब हम प्रकृति से पूरी तरह टूट जाए और आदमी अकेली सच्चाई रह जाए या आदमी की बनाई हुई चीजें अकेली सच्चाई रह जाए कारखाने मशीने मकान आदमी या आदमी की दुनिया आदमी की दुनिया इस विराट दुनिया का बड़ा छोटा हिस्सा अगर हम पूरी दुनिया को ख्याल में तो ये कोई हिस्सा ही नहीं अगर हम पूरे जगत के विस्तार को सोचे तो आदमी क्या है वो कुछ भी नहीं है उसकी ये पृथ्वी क्या है वो भी कुछ नहीं है उसका ये सूरज भी क्या है ये भी कुछ नहीं हम जगत के नौ कुछ हिस्से उस नौ कुछ हिस्से में आदमी की दुनिया नौ कुछ उस नौ कुछ आदमी की दुनिया में दस पचास आदमियों के बीच एक आदमी संबंधित होकर जी लेता है स्वभावता इसके अस्तित्व में बहुत गहराइया नहीं पैदा होती फिर एक और समझ लेने जैसी बात है कि मनुष्य के साथ हमारे जो भी संबंध है वे अपेक्षाओं के एक्सपेक्टेशन के संबंध है इसलिए पूर्ण रूप से सुंदर नहीं हो सकते जब अपेक्षा है वह कुरूपता प्रवेश कर जाती है मनुष्य से हमारे जो संबंध है वे मांग और पूर्ति के डिमांड और सप्लाई के संबंध है नहीं मालिक के साथ मजदूर का एक डिमांड और सप्लाई का संबंध है ऐसा मत समझना पति और पत्नी के बीच जो संबंध है वो भी डिमांड और सप्लाई का हम एक दूसरे के साथ संबंधित है कुछ शर्तों के साथ जब आदमी सौंदर्य से संबंधित होता है जगत के तो पहले तो सब बेसक और अनकंडीशनल होता है और जब हम बेसक होते हैं तो संबंधों की गहराई और ही हो जाती है और जब हम सफल होते हैं तो संबंधों की गहराई और हो जाती है कोई गहराई नहीं रह जाती सौंदर्य के संबंध मनुष्य को और गहरे ले जाते हैं कवि चित्रकार नृत्यकार मूर्तिकार संगीतज्ञ सौंदर्य के सृष्टा और सौंदर्य के भाव में जीने वाले लोग लेकिन साधुओं के गलत प्रभाव के कारण काव्य सौंदर्य और संगीत हमारे जीवन में गहरा प्रवेश नहीं कर पाया साधुओं को सदा डर रहा है इस बात का कि कहीं सौंदर्य लोगों को अनिति में न ले जाए जो कि सच्चाई है कि अगर सौंदर्य का बोध बढ़ जाए तो ही आदमी वस्तु का नैतिक हो पाता है का नैतिक नहीं हो पाता सौंदर्य का जितना गहरा बोध होता है उतना आदमी सेंसिटिव हो जाता है उतना संवेदनशील हो जाता है और जितना संवेदनशील हो जाता है उतना अनैतिक होना कठिन हो जाता है सौंदर्य का बोध देने के की हुई रजिस्ट्री की सिकुलर जोर से की गई इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है सौंदर्य का बोध दूसरी गहरी परिधि है जो मनुष्य को मनुष्य के जगत से ऊपर उठाती और विराट से जोड़ती रंगनाथ मुझे दूसरे प्रतीक मालूम होते और ये समझने जैसी बात है ये जरूरी नहीं है कि दूसरी परिधि पर जो है वो जरूरी रूप से शुभ भी हो शुभ भी हो लेकिन बहुत संभावना है उसके शिव और शुभ होने की पहली पहली के आदमी को जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ शुभी हो और सुंदरता उसे बोध ना हो लेकिन उसके सौंदर्य की बोध की कठिनाई ज्यादा है तीसरी परिधि है सत्य की जहां व्यक्ति बाहर से नहीं स्वयं से अंतर से संबंधित होता है इस अंतरात्मा से इस ब्रह्म से इस आत्मा से ये जो मैं हूं कब तक मैं आदमियों से ही संबंधित होता रहूंगा कब तक चांददारों से ही संबंधित होता रहूंगा कभी मुझे अपने से ही संबंधित होगा सत्यम तीसरा बिंदु है जिसके प्रतीक अरविंद जी जिनकी सारी खोज भीतर और भीतर और भीतर ये कौन है इसे जानने की खोज है जो व्यक्ति सत्यम को उपलब्ध होता है उसके लिए शिवम और सुंदरम सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं इसलिए अरविंद आचरण के संबंध में बहुत अद्भुत है गांधी से पीछे नहीं और सावित्री लिख के बता सके हैं कि सौंदर्य के बोध रविंद्र से पीछे नहीं है और अगर अरविंद को कविता के ऊपर नोबेल प्राइज नहीं कारण ये नहीं है कि अरविंद की कविता रविंद्र से पिछली हुई है उसका कारण यह है कि नोबेल प्राइज बांटने वाले लोगों के दिमाग सावित्री को में नहीं है और रविंद्र अंतरात्मा की खोज में भी गए स्वयं की खोज में भी गए अरविंद सत्यम के प्रतीक है ये तीन व्यक्ति में मौजूद जिंदगी से ले रहा हूं ताकि बात हमें साफ हो लेकिन तीनों में से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है न गांधी न अरविंद न अरविंद क्योंकि ये तीनों अस्तित्व की बातें मुक्ति इसके पार शुरू होती अगर कोई आचरण के रुपया तो भी बन जाता है अगर कोई सौंदर्य के रुपया तो भी बन जाता है अगर कोई स्वयं का रुपया तो भी बन जाता है जरा निकट है तीसरा बंधन अति निकट है लेकिन तीनों ही बंधन अगर कोई कि स्वयं के भीतर ही डूब गया तो भी रुक गया क्योंकि स्वयं के पार भी सर्व की सत्ता है वो जो ये मैं हूं इसके पार भी न मैं वो जो नहीं हूं मैं उसकी भी सत्ता है प्रकृति की नहीं कॉस्मिक एक्सिस्टेंस भी है जहां से प्रकृति पैदा होती है और जहां प्रकृति लीन होती है चरित्र पर रुक जाऊं तो सामान्य अंश बनकर रह जाता हूं प्रकृति पर रुक जाऊं तो प्रकृति का अंश बनकर रह जाता हूं अपने पर रुक जाऊं तो कॉन्सनेस चेतना का अंश होकर रह जाता हूं लेकिन सर्वात्मा का अंश नहीं हो पाता इन तीनों के पार जो होता है वही मुक्ति में प्रवेश करता है वही फ्रीडम में टोटल फ्रीडम में प्रवेश करता है सत्य शिव और सुंदर तीन मनुष्य की भाव जपोड़े और जब तीनों भाव जपोड़ों की कोई पार होता है तो निर्भाव हो जाता है तब वो बियॉन्ड माइंड हो जाता है तब वो मन के पार चला जाता है समाधि तीनों के पार हो जाने का नाम लेकिन तीनों के पार होने के दो ढंग एक ढंग के प्रतीक रावण और दूसरे ढंग के प्रतीक मूर्ति तीनों के पार होने का एक ढंग तो यह है कि तीनों शांत हो जाए तीनों में से कोई भी ना रह जाए तीनों विदा हो जाए जैसे लहर सूदिन सागर कोई लहर ना बची न शिवम की न सुंदरम की न सत्यम की तीनों साइन हो गए और निष्क्रिय समाधि को उपलब्ध होते हैं तीनों शांत हो गए न पत्थर की कोई पकड़ है न शिवम की कोई पकड़ है न सुंदरम की कोई पकड़ है तीनों की लय हो गई है ये निष्क्रिय समाधि है रमन से यात्रा शुरू होती है मुक्ति की कृष्ण मूर्ति ठीक विपरीत है समन से चौथी जगह खड़े हैं लेकिन विपरीत रमन में तीनों सोलह है कृष्ण मूर्ति में तीनों एक से सजग तीनों समतुल तीनों की शक्ति बराबर एक है तीनों एक से प्रबल है अरविंद को तो कविता लिखनी पड़ती है कृष्णमूर्ति जो बोल रहे हैं वो कविता है अलग से लिखनी पड़ती कृष्णमूर्ति को बोलना ही कविता है अरविंद के लिए तो कोई क्षण कार्य का होगा कृष्णमूर्ति के लिए पूरा अस्तित्व कार्य है गांधी को सिवन साधना करता होगा कृष्णमूर्ति के लिए वो साधना नहीं करता वो उनकी छाया है गांधी को अहिंसा लेनी पड़ती है कृष्णमूर्ति के लिए अहिंसा आती है अर्जुन को सत्य को खोजना पड़ता है कृष्णमूर्ति को सत्य ही खोजता हुआ आ गया तीनों समतल है तो एक ही शक्ति के हैं लेकिन रमन और कृष्णमूर्ति में क्या फर्क दोनों एक ही ज्ञान पर खड़े एक निष्क्रिय समाधि को उपलब्ध हुआ है क्योंकि तीनों के पास चला गया एक सक्रिय समाधि को उपलब्ध हुआ है क्योंकि तीनों के समय को सिंथेसिस को उपलब्ध हो गया दोनों में थोड़ा सा फर्क है अनुभव का कोई फर्क नहीं लेकिन व्यक्तित्व का बुनियादी फर्क है रमन तो की समाधि ऐसे है जैसे गुण सागर में गिर जाए गुण समान समुद्र में कृष्णमूर्ति की समाधि ऐसी है जिससे बूंद में सागर गिर जाए समुद्र समान और बूंद में परिणाम में तो एक ही घटना घट जाएगी लेकिन दोनों के व्यक्तित्व भिन्न और कृष्णमूर्ति और बूंद मिनिमम क्वालिफिकेशन है अध्यात्म के द्वार पर न्यूनतम योग्यता है अध्यात्म के द्वार को न्यूनतम योग्यता कम से कम इतनी चाहिए जितनी रमन की या कृष्ण लेकिन ये न्यूनतम योग्यता है मिनिमम क्वालिफिकेशन और रमन और कृष्णमूर्ति से भी महत्व व्यक्तित्व है जैसे बुद्ध महावीर या क्राइस्ट बुद्ध महावीर और क्राइस्ट में रमन और कृष्णमूर्ति संयुक्त रूप से प्रकट हुए अलग अलग नहीं निष्क्रिय और सक्रिय समाधि एक साथ घटित हुई वो जो पॉजिटिव और निगेटिव है वो एक साथ घटित हुआ है वे दोनों एक तरह थे कृष्णमूर्ति भी और रमन भी महावीर जब बोल रहे हैं तब वे कृष्णमूर्ति जैसी भाषा बोलते हैं और महावीर जब चुप है तब वे रमन जैसे चुप होते हैं रमन मौन है साइलेंट है कृष्णमूर्ति मुखर है प्रगट है कृष्णमूर्ति में तेजी है कृष्णमूर्ति जैसे होंगे और महावीर को कोई चुप जैसे तो वे रमन जैसे होंगे बुद्ध और क्राइस्ट भी ऐसे ही व्यक्तित्व थे एक तरफ क्राइस्ट इतने शांत है कि सूर्य लटक लटकाए जा रहे हैं तभी वे परमात्मा से कह रहे हैं कि इन्हें माफ कर देना क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं ये रमन की हालत में है और यही क्राइस्ट चर्च में कोड़ा लेके चला गया और सूट खोरों को कोई मार के उनके तख्ते उलट दिए और उनको घसीट के मंदिर के बाहर निकाल दिया वो कृष्ण मूर्ति के रूप में मुझे कोई कहता है कि कृष्ण मूर्ति इतने के और इतने गुस्से में क्यों बोलते जब सिर्फ सक्रिय समाधि होगी वहां तो ऐसी घटना घटेगी मुझे कोई कहता है कि रमन चुप क्यों बैठे रहते हैं लोग पूछने जाते हैं और वे चुप ही बैठे रहते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि निष्क्रिय समाधि ऐसी ही होगी वो चुप होकर ही उत्तर दे रहे हैं बुद्ध और महावीर और जीसस में ये दोनों घटनाएं एक साथ है बुद्ध और महावीर और जीसस के पास और भी पूर्णतम व्यक्तित्व है लेकिन बुद्ध और महावीर और जीसस से भी पूर्णतर व्यक्तित्व की संभावना है और वैसा व्यक्तित्व कृष्ण के पास है बुद्ध महावीर और जीसस में दोनों चीजों के लिए अलग अलग क्षण जब वे निष्क्रिय होते हैं तब अलग मालूम पड़ते हैं जब वे सक्रिय होते हैं तब वे अलग मालूम होते हैं और आज तक ईसाई इस बात को हल नहीं कर पाए कि जो जीसस कोड़े मार सकता है वो जीसस सूली पे चुपचाप कैसे लटक सकता है ये दोनों बातों का टाइम अलग अलग है घड़ी अलग अलग है और इसलिए जीसस में बहुत कंट्रडिक्शन मालूम होता है बुद्ध ने भी महावीर में भी कृष्ण का व्यक्तित्व और भी पूर्णतर है वहां ये कंट्रडिक्शन भी नहीं है वहां वे दोनों एक स्वरूप है दुनिया के व्यक्तित्व में भेद है जहां ये पहुंचते हैं वो तो एक ही जगह है लेकिन उन तीनों की पर्सनैलिटीज में बुनियादी फर्क है रमन और कृष्णमूर्ति से सत्यम शिवम सुंदरम के अतीत होना शुरू हो जाता है ट्रांसेंडेंस शुरू हो जाता रमन और कृष्णमूर्ति के नीचे तीन तल जहां कोई शिव को पकड़ के बैठ गया जहां कोई सुंदर को पकड़ के बैठ गया जहां कोई सत्य को पकड़ के बैठ गया और हम सब तो उन तीनों तल के ही बाहर खड़े रह जाते जहां न हमने शिव को पकड़ा न हमने सत्य को पकड़ा न हमने सुंदर को पकड़ा उन तीनों की हमारे जीवन में कोई गति नहीं है एक अर्थ में जब तक तुम पहली सीढ़ी पर न खड़े हो तब तक तुम मनुष्य होने के अधिकारी नहीं होते गांधी के पास मनुष्यता शुरू होती अरविंद के पास मनुष्यता पूरी होती तो रमन कृष्णमूर्ति के साथ अति मानव शुरू होता है कृष्ण के साथ अति मनुष्यता का अंत होता है हम कहा हम पशु नहीं है इतना पक्का है हम आदमी हैं इसमें संदेह एक बात तय है कि हम जानवर नहीं दूसरी बात इतनी तय नहीं है कि हम आदमी हैं क्योंकि जानवर न होना केवल निषेध आदमी होना एक विधायक उपलब्धि एक पॉजिटिव अचीवमेंट है प्रकृति हमें जानकर नहीं है बारों तक छोड़ देती है और आदमी होने का अवसर देती है हम आदमी हो सके प्रकृति हमें आदमी की तरफ पैदा नहीं करती अगर प्रकृति हमें आदमी की तरफ पैदा करते तो फिर हम आदमी कभी भी ना हो सकेंगे क्योंकि आदमी होने का पहला कृत्य चुनाव अगर प्रकृति हमें चुनाव का मौका न दे तो फिर हम जानकारी होंगे आदमी और जानवर में जो फर्क है वो एक ही है कि जानवर के पास कोई च्वाइस कोई चुनाव नहीं है उसके ऊपर कोई चुनाव नहीं कुत्ता पूरा कुत्ता पैदा होता है और आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कुत्ता उस कुत्ते से थोड़ा कम कुत्ता है ऐसा कहेंगे तो आप पागल मौत पड़े सब कुत्ते बराबर कुत्ते होते हैं दुबले पत्ते हो सकते मोटे हो लेकिन कुत्ता कम बिल्कुल बराबर होता है लेकिन आप एक आदमी के संबंध में बिल्कुल कह सकते हैं कि यह आदमी थोड़ा कम आदमी है ये आदमी थोड़ा ज्यादा आदमी आदमियत जन्म से नहीं मिलती इसलिए ये संभव आदमियत हमारा सृजन आदमियत हम निर्मित करते हैं आदमियत हमारी उपलब्धि और खोज कहें कि आदमियत हमारी डिस्कवरी आदमियत हमारा आविष्कार है लेकिन हम सारे लोग जन्म के साथ ये मान लेते हैं और बड़ी भूल हो जाती है कि हम आदमी है जन्म के पूर्व कोई भी आदमी नहीं हो रहा किसी माँ बाप की हैसियत आदमी पैदा करने की नहीं सिर्फ आदमी होने का अवसर पैदा किया जाता है जब एन अपॉर्चुनिटी जब एक माँ बाप से एक बच्चा पैदा होता है तो यह आदमी होने की संभावना पैदा हो रही यह आदमी पैदा नहीं हुआ ये सिर्फ पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग है ये चाहे तो आदमी हो सकता है चाहे तो रुक सकता है और मुझे यह है कि यदि आदमी चाहे तो आदमी हो सकता है यदि आदमी चाहे तो आदमी के पार हो सकता है यदि आदमी चाहे तो पशु हो सकता है यदि आदमी चाहे तो पशु से भी नीचे गिर सकता है अगर हम ठीक समझे तो आदमी का मतलब च्वाइस आदमी का मतलब चुनाव की अनंत क्षमता नीचे पशुओं में कोई चुनाव नहीं है और ऊपर अरविंद के बाद रमन से जो दुनिया शुरू होती वहां भी कोई चुनाव नहीं है पशु जैसे हैं वैसे होने को मजबूर है अगर एक कुत्ता भोगता है तो ये उसका चुनाव नहीं और अगर एक शेर हमला करता है और हिंसा करता है तो ये इसका चुनाव नहीं इसलिए किसी शेर को आप हिंसक नहीं कह सकते क्योंकि जिसकी अहिंसक होने की कोई क्षमता ही नहीं है उसको हिंसक कहने का क्या है इसलिए आप किसी जानवर पर अनैतिक होने का जुर्म नहीं लगा सकते और अपराधी नहीं ठहरा सकते इसलिए हम सात साल के बच्चे तक को अपराधी ठहराने का विचार नहीं करते क्योंकि हम मानते हैं कि अभी आदमी का अभी जानवर चल रहा है इसलिए बच्चों को हम जानवर के साथ गिनते अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ लेकिन सात साल तक न हो ये तो समझ में आता है फिर सत्तर साल तक लोग तो तब में वो बहुत मुश्किल होता है कुछ लोग बिना चुनाव में ही जी लेते हैं प्रकृति उन्हें जैसा पैदा करती है वैसे ही जी लेते हैं चुनाव मनुष्यता का निर्णायक कदम कहां से चुनाव करें शिव से चुनाव करें सौंदर्य से चुनाव करे सत्य से चुनाव करे क्रम से चुनाव करे साधारणता दो तरह की बात नहीं है एक तो वे लोग हैं जो कहते हैं पहले आज के बदलो फिर और कुछ गहरा बदला जा सकते हैं मैं उनसे राजी नहीं मेरी अपनी समझ ये है कि आचरण को अगर बदलने से शुरू किया तो पाखंड का पूरा दर्द हिपोक्रेसी का पूरा दर्द इसलिए मैं कहता हूँ स्वयं को समझने से शुरू करो सत्य से शुरू करो गांधी से शुरू मत करो अरविंद से शुरू करो पहले स्वयं को समझने की चेष्टा से शुरू करो और जिस दिन स्वयं को जान सको उस दिन स्वयं के बाहर जो फैला हुआ विराट है उसे जानने की चेष्टा को फैलाओ तो सौंदर्य जीवन में उतरेगा और जिस दिन इस विराट को जानने की बात भी पूरी हो जाए उस दिन इस विराट के साथ कैसे व्यवहार करना उसका विस्तार करो तो उसके मन भी सत्य से शुरू करो सौंदर्य पर फैलाओ शिवम पर पूरा करो साधारण का आज तक दुनिया में जितने धर्म है वो कहते हैं शिवम से शुरू करो और सत्यम की यात्रा वे कहते हैं आचरण से शुरू करो और आत्मा की तरफ जाओ मैं आपसे कहता हूं आत्मा से शुरू करो और आचरण को आने दो असल में जो आचरण से शुरू करेगा वो हो सकता है जिंदगी बहुत फिजूल के क्रम में गवा दे गांधी जी जिंदगी भर ब्रह्मचरी का प्रयोग किए लेकिन अंतिम क्षण तक तय कर पाए कि ब्रह्मचरी उपलब्ध हुआ है या नहीं हुआ आचरण से शुरू करने की बड़ी तकलीफ है महावीर को कभी शक न हुआ बुद्ध को कभी शक न हुआ गांधी को शक हुआ उसका कारण आचरण से ही जीवन को साधा है बाहर से ही जीवन को साधा है और भीतर की तरफ बाहर से साध कर गए मकान के बाहर से साधना शुरू की और मकान की बाहर की दीवारों को संभालना शुरू किया बाहर की दीवारें बाहर की परिधि जीवन की कितनी ही सुख हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि भीतर जो जी रहा है वो सुख हो लेकिन अगर भीतर जो जी रहा है वो सत्य हो जाए तो जो बाहर है वो अनिवार्य रूप से सुख हो जाता सारी दुनिया में पांच दस हजार वर्षों के दौरान में आदमी में कुछ पैदा नहीं कर पाया उसका कारण ही तो उनकी उनकी प्रक्रिया उल्टी है आचरण से शुरू करते हैं और आत्मा तक जाने की बात कहते हैं आदमी जिंदगी भर आचरण को संभालने में नष्ट हो जाता है और कभी तय नहीं कर पाता कि आत्मा को संभालने का क्षण आए अगर मनुष्य जाति को सच में धार्मिक बनाना है तो भीतर से शुरू करनी पड़ेगी यात्रा और बाहर की तरफ फैलना पड़ेगा और मजे की बात यह है कि भीतर से यात्रा करना सरलता है क्योंकि जिसे हम बाहर साधसाध के भी नहीं साध करते वो भीतर की साधनों से अपने आप सज जाता है ऐसे ही जैसे कोई आदमी गेहूं बोता है तो भूसा तो अपने आप पैदा होता है भूसे को अलग से पैदा नहीं करना पड़ता लेकिन कोई सोचे कि जब गेहूं के साथ भूसा पैदा होता तो हम भूसा बोल तो गेहूं भी पैदा हो जाए तो सिर्फ भूसा पड़ जाएगा गेहूं पैदा नहीं होगा भूसे के साथ गेहूं पैदा नहीं होता भूसा बहुत बाहरी चीज है गेहूं बहुत भीतरी चीज है असल में भूसा गेहूं के लिए पैदा होता है उसकी रक्षा के लिए पैदा होता है अगर गेहूं नहीं है तो भूसे के पैदा होने की कोई जरूरत नहीं होती जब भीतर सबसे पैदा होता है तो उसके आसपास सौंदर्य और शिव अपने आप पैदा होते रक्षा के लिए असल में जब भीतर सत्य का दिया जल जाता है तो अपने आप शिव का आचरण निर्मित होता है क्योंकि सत्य के दिए को अशुभ आचरण में बचाया नहीं जाता जब भीतर सत्य पैदा हो जाता है तो चारों तरफ जीवन में सौंदर्य की आदत फैल जाती वैसे जैसे दिया जलता है तो घर के बाहर रोशनी फैलने लगती है अगर इस कमरे में दिया जलाओ तो खिड़कियों के बाहर भी रोशनी फैलने लगेगी लेकिन आप कहीं खिड़कियों के बाहर पहले रोशनी फैले और फिर भीतर दिया जलाएंगे इस ख्याल में पड़ गए तो बहुत खतरा है हो सकता है कोई नकली रोशनी ला के बाहर चिपका ले तो बात अलग लेकिन नकली रोशनी अंधेरे से भी बदतर होती है नकली फूल असली फूल से भी बुरा होता है क्योंकि असली फूल न हो तो पीड़ा होती है असली फूल के खोज की और नकली फूल हाथ में हो तो ये भी ख्याल भूल जाता है कि असली फूल को खोजना है नकली फूल दूसरों को धोखा दे इससे बहुत ही खुद को भी धोखा दे देता है मनुष्य जाति का अब तक का धर्म सिर से शुरू होता था सत्य की यात्रा पर निबलता था इसलिए हम बहुत लोगों को न तो शिव बना पाए न सुंदर बना पाए न सत्य दे पाए भविष्य में अगर धर्म की कोई संभावना है इस प्रक्रिया को पूरा उलट देना पड़ेगा सत्य से शुरू करें एवं और सुंदरम उनके पीछे हो रहे लेकिन ध्यान रहे सत्य भी उपलब्ध हो जाए शिवम भी मिल जाए सुंदरम भी मिल जाए तो भी हम सिर्फ मनुष्य हो पाते हैं पूरे मनुष्य मनुष्य होना काफी नहीं जरूरी है काफी नहीं नेसेसरी है इनफ नहीं पर्याप्त नहीं जैसे ही मनुष्य होते हैं वैसे ही एक नई यात्रा का द्वार खुलता है जो मनुष्य के भी पार ले जाता है और जब कोई मनुष्यता के पार जाता है तब एक तरह से जीवन उस आनंद को उपलब्ध होता है जो अस्तित्व का आनंद है उस स्वतंत्रता को उपलब्ध होता है जो अस्तित्व की स्वतंत्रता है उस अमृत को उपलब्ध होता है जो अस्तित्व की का अमृत में है इन तीनों के पार जाना है लेकिन हम तो इन तीनों में भी नहीं गए इन तीनों में जान है ताकि इन तीनों के पास जाया जा सके सत्यम शिवम सुंदरम यात्रा है अंत नहीं मार्ग है मंजिल नहीं साधन है साध्य नहीं सत्यम शिवम सुंदरम का ये त्रय प्रक्रिया है और सच्चिदानंद का त्रय उपलब्धि है वो सच्चिदानंद है वो उपलब्धि उसकी थोड़ी थोड़ी झलक मिलने शुरू होती है जो अपने जीवन में शिव को उदार लेता है उसके जीवन में लेता अपने जीवन में उसके जीवन में सुख आना शुरू हो जाता है लेकिन जहां तक सुख है वहां तक दुख की संभावना सदा मौजूद रहती है जो तीनों के पार चला जाता है वहां आनंद आना शुरू होता है आनंद का मतलब जहां सुख रहा है दुख रहा इसलिए आनंद के विपरीत कोई भी शब्द नहीं आनंद अकेला शब्द है मनुष्य की भाषा में जिसका कंट्रेडिक्टरी नहीं जिसका उल्टा नहीं सुख का उल्टा दुख है और शांति का उल्टा अशांति है और अंधेरे का उजाला है और जीवन का मृत्यु है आनंद का उल्टा शब्द नहीं है आनंद अकेला शब्द है जिसके विपरीत कोई नहीं है जैसे ही हम सुख और दुख के बाहर होते हैं आनंद में प्रवेश होता है मुक्ति का द्वार तो रमन और कृष्णमूर्ति से खुल जाता है आप कहेंगे जब द्वार यही खुल जाता है तो बुद्ध और महावीर और कृष्ण तक जाने की क्या जरूरत अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बात निर्भर करेगी मैं मुंबई आता हूँ तो पूरी गली उतर सकता हूँ तो वो भी बम्बई का स्टेशन है दादर भी उतर सकता हूँ वो भी बंबई का स्टेशन संगल भी कर सकता हूँ वो भी बम्बई का लेकिन वो टर्मिनल है और एक सिर्फ प्रारंभ और एक अंत है कृष्ण टर्मिनल पर उतरते आखिरी जब ट्रेन ही खत्म हो जाती है जिससे आगे से यात्रा की जमीन और कृष्णमूर्ति बोरी बलि उतर जाती महावीर और गोस्वर जी सब दादर पतन की बात है लेकिन और कृष्णमूर्ति तक प्रत्येक को पहुंचना ही चाहिए उसके आगे बिल्कुल पतन की बात है कि कौन का रोग चलता है वो बिल्कुल व्यक्तिगत रहा है लेकिन बहुत दूर से और कृष्णमूर्ति तो गांधी होना ही कितना मुश्किल मालूम करता है और कितने लोग बेचारे चरखा चला चला के गांधी होने की चरखी चल पाता है का परेशान हो जाता वो सहज नहीं हो पाता रविन्द्रनाथ कितने मुश्किल चलती कितनी कविताएं रची जाती लेकिन काव्य जन्म नहीं होता कितने लोग एक बंद करके ध्यान करते हैं पूजा करते हैं पाठ करते हैं आदमी को बड़ी मुश्किल है लेकिन अगर गांधी गांधी हो सकते हैं रविंद्र रविंद्र हो सकते हैं अरविंद अरविंद हो सकते हैं तो कोई भी कारण नहीं कि कोई भी क्यों नहीं हो सकता मनुष्य का बीज है उसकी संभावनाएं समान उसकी पोटेंशियलिटी है एक बार संकल्प हो तो परिणाम आने शुरू कर सकते छोटी सी घटना अपनी बात में पूरी करो एक घटना में पढ़ रहा था दो दिन हुए अमरीकों का एक अभिनेता फिल्म अभिनेता मरा मरने के पहले दस साल पहले वसीयत की थी कि मुझे मेरे छोटे से गांव में ही बचना जाता लोग महात्माओं की वसीयत नहीं मानते अभिनेताओं की वसीयत कौन मानेगा जब वो मरा तो अपने गांव से दो हजार मील दूर मरा कौन जिक्र करता मरने के बाद महात्माओं की कोई जिक्र नहीं करता अभिनेताओं की कौन करता उसको लोगों ने बड़ी ताजुब में बंद करके कपड़ा दिया मरते क्षण भी सकता हूँ कि मुझे मेरे गांव तक पहुंचा दे जहां मैं पैदा हुआ उसी गांव में मुझे बसना है मर गया लोगों ने कहा मरे हुए आदमी की क्या बात उसको तारू में बंद करके बसना दिया लेकिन रात ही भयंकर तूफान आया उसकी कब्र उठ गई उसकी कब्र के बाद खड़ा हुआ दर्द चल गया और उसका ताबूत समुद्र में बह गया और दो हजार बीस ताबूत ने समुद्र में यात्रा की और अपने गांव के किनारे जाके लग गया जब मतलब लोगों ने ताजू खोला तो सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनके गाँव का बेटा जो सारी दुनिया में जब जा रहा हो गया उन्होंने उसको उसी जगह बचना दिया जहां वो उतर रहा उस अभिनेता की उस अभिनेता की जीवन कथा में पढ़ रहा था उस लेखक ने लिखा है कि क्या ये उसके संकल्प का परिणाम हो सकता है क्वेश्चन उठाया अगर मैं आदमियों की तरफ देखू तो शक होता है इस संकल्प का प्रयोग कैसे हो सकता आदमी जिंदगी में जहां पहुंचना चाहता है वहां जिंदा रहते नहीं पहुंच पाता ये आदमी मर के जहां पहुंचना चाहता था नहीं पहुंच पाता लेकिन दो हजार मील की ये लंबी यात्रा और अपने गांव पर लग जाना और उसी रात तूफान का ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता कि संकल्प से बिल्कुल नहीं हो संकल्प इसमें लगा होगा संकल्प की इतनी शक्ति है कि मुर्दा भी यात्रा कर सकता है तो क्या हम जिंदे की यात्रा नहीं कर सकते लेकिन हमने कभी यात्रा ही नहीं करनी चाहिए हमने कभी अपने बिल को नहीं पकाया है हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी कुछ हो सकते या हम भी कुछ होने को पैदा हुए या हमारा होने का भी कोई कोई गहरा प्रयोजन कोई गहरा बीज हमने छिपा है जो फूटे वृक्ष बने और फूलों को उपलब्ध हो हमें वो ख्याल ही नहीं इस छोटी सी चर्चा ये थोड़ा सा ख्याल मैं आपको देना चाहता हूँ कि पहले तो देने को जीवन में समझ लेना और सच ये होने को मनुष्य होने को समझ लेना मनुष्य की शक्ल को मनुष्य की उपलब्धि में समझ लेना मनुष्य होने के लिए श्रम करना पड़ेगा भजन करना पड़ेगा यात्रा करनी पड़ेगी और मनुष्य होने के लिए शुरू से शुरू मत कर देना व्यवस्था लंबी यात्रा हो जाएगी जन्मों का लटका हो मनुष्य की यात्रा शुरू करने को सत्य से शुरू कर और शिवम का धर्म और अंतिम बार की सत्य भी मिल जाए स्वयं भी मिल जाए शिवम भी मिल जाए सुंदरम भी मिल जाए तो भी रूप मत जाओ ये भी पड़ाव नहीं है मनुष्य के भी ऊपर जाने में मनुष्य होना जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है मनुष्य के ऊपर उठकर ही मनुष्यता का पूरा फूल खिलता विकसित होता मेरी थोड़ी सी बातें इंसान के इससे बहुत अनुग्रहित हूँ और मैं सबके भीतर बैठे प्रभु